Oh. सज्जनों परमात्मा के बहुत से संबोधनों को हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं आगे भी और बहुत सारे संबोधन आएंगे अब तक जो संबोधन हुए हैं उनमें से किसी संबोधन के बारे में आप लोगों को कुछ पूछना हो अथवा मैंने जो बात रखी है उसमें किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं स्वामी जी बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं हम्म। तो तो आगे आएगा अभी आगे आएगा वो तो अच्छा सच्चिदानंद में चित्त हाँ

इतने सारे संबोधन हैं तो कहीं ना कहीं कोई वो एक जैसी बातें आ जाती हैं और जहां भिन्नता भी हमें दिखाई देती है वहां भी पीछे से देखेंगे तो जाकर के एक जैसा दिखने लगेगा भिन्नताएं होते हुए भी उनमें एक जैसा भी दिखाई देता है तो जहां एक जैसा दिखाई दे रहा है उसमें आपने दो शब्द कहे एक तो चित्त सच्चिदानंद स्वरूप इसमें सत्य चित्त और आनंद तो ये जो चित्त परमात्मा का गुण बताया चित्त का मतलब होता है जानने वाला चेतन और दूसरा आपने कहा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तो यहां पर बुद्ध शब्द आया है बुद्ध मतलब जो जान चुका है जो जान चुका है तो यद्यपि शब्द का स्वरूप भी भिन्न है संबंध दोनों का जानने से है चित्त यानी चेतन हम उसे कहते हैं जो जानता है जानने वाला है संज्ञान करता है सम्यक रूप से ज्ञान करता है तो इसमें <clears throat> तीनों कालों का ज्ञान छुपा हुआ है केवल एक अंश को कहा जा रहा है कि ये जानने वाला है उसने जाना था ये भी इसमें समाहित है वो जान रहा है ये भी समाहित है और वो जानेगा ये भी समाहित है जानना उसका स्वभाव है बस इतने अंश को यहां प्रस्तुत किया गया बुद्ध शब्द के अंदर वो जानता है भूतकाल का भाव यहां पर जुड़ा हुआ है वो जान चुका है जो चीज जैसी है उसको वो यथावत जानता है भविष्य में उन वस्तुओं को जानने के लिए कोई विषय नहीं है भविष्य में जाने का ये भाव यहां पर नहीं है जान चुका है जो वस्तुएं विद्यमान है कार्य जगत कारण जगत आत्मा उनका जो भी स्वरूप है गुणधर्म है उनके जो भी संभावित कर्म है उनको वो पूरी तरह जानता है एक तो ये अर्थ हुआ तो दोनों में भिन्नता है जीवात्माओं के भविष्य में होने वाले कर्मों को जब जब वो होते हैं वो जानता है कर्मों के फल जब वो देता है तब उसके साथ साथ जानता है इसका ये फल दे दिया इसका नहीं दिया इत्यादि ये तो आगे भी चलता रहेगा ये उसके चेतन के कारण से है चित्त के गुण के कारण है इसलिए बुद्ध और चेतन ज्ञान से जुड़े हुए हैं फिर भी दोनों के भाव में भिन्नता है ठीक है दूसरा आपने कहा अधमोद्धारक और पतित पावन अधम जो नीचे हैं निकृष्ट हैं उनको का उद्धार करने वाला उनको ऊपर उठाने वाला और पतित का पावन करने वाला तो पतित भी गिरा हुआ है और अधम भी गिरा हुआ है एक जैसी बात हुई और अधम का उद्धारक उद्धारक का मतलब है उनको ऊपर उठाना उस स्थिति से ऊपर उठा करके धारण करना उस स्थिति से हटा देना उन्हें सहायता करना ये उद्धार करना होता है और पतित पावन में जो पतित है उसको पावन यानी पवित्र करने वाला तो पतित में निम्न स्थिति रहती है पवित्रता में ऊपर की स्थिति रहती है तो ये भी उद्धार जैसा ही हुआ किसी अशुद्ध चीज को शुद्ध कर देना उसका उद्धार करना है इस दृष्टि से ये समान प्रतीत हो रहे हैं ये इनका प्रश्न है तो इनमें हम भिन्नता देख सकते हैं अधम शब्द मात्र निंदित अर्थ में नहीं होता कि कोई किसी की भावना निकृष्ट है कर्म निकृष्ट है शरीर निकृष्ट है कर्मों की दृष्टि से ही अधम नहीं होता है आप जिस अर्थ को समानता की दृष्टि से देख रहे हैं तो जैसे पतित व्यक्ति है पतित का मतलब अधर्म करने वाला दुष्ट भावना वाला और अधम का अर्थ भी वही लिया जा रहा है इसलिए एक जैसा प्रतीत हो रहा है दोनों में भिन्नता है अधम शब्द पतित लोगों के लिए भी काम में लिया जाता है किंतु अधम शब्द अधिक व्यापक है किसी के पास धन कम है किसी के पास ज्ञान कम है उसको भी अधम कह सकते हैं निचले स्तर का निम्न स्तर का अब कम धन है लेकिन वो ईमानदारी से कमाता है साधनों की अल्पता है सुविधाएं नहीं है इत्यादि तो हो सकता है रुग्ण है उसका कोई सहयोगी नहीं है अकेला है ज्ञान कम है इत्यादि दृष्टि से लेकिन वो पतित हो यह आवश्यक नहीं है तो अधम और पतित एक जगह समानार्थक होते हुए भी अधम शब्द अधिक व्यापक है जो भी निचले स्तर पर है वो निचला स्तर किसी भी चीज का हो सकता है धन ज्ञान स्वास्थ्य पद प्रतिष्ठा उन सब के अंदर हम अधम कहते हैं तो जो निचले स्तर पर है उसको ऊपर उठाने वाला है परमात्मा उनकी भी वो सहायता करता है जैसे वायु के लिए कहा जाता है कि वो बड़ी अग्नि को बढ़ा देती है और छोटी अग्नि दीपक को बुझा देती है तो बलवान व्यक्ति समर्थ व्यक्ति भी क्या करते हैं सामान्यतः लोक में देखा जाता है जो अधिक संपन्न है वो और संपन्न होते हैं और निर्धन है वो और निर्धन हो जाते हैं जो बलवान है उनकी बहुत रक्षा हो जाती है और जो निर्बल है उनकी रक्षा नहीं हो पाती वो और और दुर्बल स्थिति में पहुंच जाते हैं ये जो लोक में होता है वो अपने पद प्रतिष्ठा और स्वार्थ आदि की दृष्टि से सामान्य मनुष्य करता है ऐसा उनका ज्ञान का स्तर ऐसा है वो अधम लोगों के उद्धार करने वाले नहीं होते कम होते हैं बहुत कम मनुष्य होते हैं जो निम्न स्तर के लोगों को उठाने का प्रयास करते हैं उसमें लगे रहते हैं और वो अच्छे भी माने जाते हैं समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं संस्थाएं होती हैं जो जो पिछड़ा वर्ग है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है उनकी सहायता में लगते हैं तो ऐसे परमात्मा जो निम्न स्थिति के उन सबका भी उद्धार करने वाला है नहीं तो साधक के मन में या धार्मिक के मन में यह आएगा कि जब ये सब बढ़े हुए हैं तो परमात्मा इन्हीं को बढ़ाने वाला है परमात्मा ने इन्हीं को बढ़ाया और जो हम निचली स्थिति में है तो परमात्मा हमारे को तो बढ़ाने वाला नहीं है और समाज की कई गलत नीतियों को शोषणों को सत्य स्थापित करने के लिए जो संपन्न है साधन और पद से युक्त है तो उस तरह की बातें भी करते हैं कि जो निम्न स्थिति में है वो उनके अपने भगवान के कारण से भगवान ही उनको ऐसे रखना चाहते हैं और जो अच्छी स्थिति में है भले ही अन्याय पूर्वक उन्होंने धन संपत्ति अर्जित की है तो बोले भगवान उनको ऐसा ही रखना चाहते हैं परमात्मा न्याय पूर्वक जन्म देता है कर्म फल देता है लेकिन इस बात का दुरुपयोग करते हुए उच्च वर्ग के शोषण को पुष्ट करने का प्रयास समाज में होता है तो किसी के मन में यह भी आ सकता है कि मैं निम्न हूं परमात्मा तो मेरे को ऊपर उठाने वाला है ही नहीं मेरी क्या सुनेगा परमात्मा नहीं परमात्मा अधम लोगों का भी उद्धारक है ऊपर उठाने वाला है और परमात्मा ने व्यवस्थाएं की है वो क्षतिपूर्ति करेगा आगे व्यवस्था करेगा न्याय करेगा और उसको करते हुए वो हर व्यक्ति को हर निम्न व्यक्ति को ऊपर उठाने वाला है और भावना आध्यात्मिक दृष्टि से भी कोई अपने को बहुत पतित समझता है कि मैंने ये दुष्कर्म कर लिया है इस तरह की भावना मेरी आती है मेरा तो उद्धार हो ही नहीं सकता है मैंने सब प्रयत्न कर लिए नहीं परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि वो भी ऊपर उठ सकता है तो अधम उद्धारक एक व्यापक स्तर की बात है और पतित पावन ये मानसिक रूप से अधिक लगता है कि जो भावना के स्तर पर पतित हो गया है उसको पवित्र करने वाला है यद्यपि ये हमारे कर्मों के साथ भी जुड़ेगा लेकिन ये हमेशा अधर्म के साथ में जुड़ा हुआ है पतित शब्द अधर्म अधर्म के साथ में जुड़ा हुआ है न कि मात्र निम्न साधनों की न्यूनता के इस दृष्टि से दोनों में भिन्नता है सर्वस्वामी तो वैसे तो एक जैसा ही अर्थ है जगत और सर्वस्वामी पर फिर भी हम चाहे भिन्नता कर सकते हैं देखो एक जगत अर्थ का अर्थ हम यूं तो सब ले लेते हैं जड़ और चेतन लेकिन गच्छती इति जगत अगर हम यूं लेना चाहें तो केवल चेतन चेतन को ले सकते हैं ठीक है और सर्व शब्द को हम ज्यादा व्यापक बना के जड़ और चेतन ले सकते हैं हालांकि जगत शब्द ये जड़ के लिए भी काम में आता है पर एक हम थोड़ा भेद करना चाहें तो जगत और सर्व ठीक है जगत और सर्व दोनों में एक क्या भिन्नता और है कि जगत में आप जड़ वस्तुओं को भी ले लें यदि लेकिन मूल प्रकृति को नहीं ले पाएंगे जो कार्य जगत है वो गतिशील है लेकिन मूल प्रकृति को नहीं लेंगे उसमें भी आप रजोगुण में गति मान भी लें लेकिन सत्व और तम है उसको हम जगत शब्द से नहीं कहेंगे जगत मतलब ये गतिशील है गच्छति इति जगत तो परमात्मा तो मूल प्रकृति का भी स्वामी है ठीक और जगत में हम ये शरीरधारी धारी हम गच्छति जाते हैं चलते हैं लेकिन आत्मा जो है मूल रूप से वो निष्क्रिय है वो स्वयं न जाता है न करता है दूसरा उसको ले जाता है और साधनों के साथ वो जाता है तो जो मूल रूप से आत्माएं हैं उस उनका भी वो एक तरह से स्वामी है इसमें देखो कहाँ कहाँ है ये एक तो हम्म, हाँ, पंक्ति बताओ तीसरी पंक्ति में हाँ, जगदीश और ईश का मतलब ऐश्वर्य के हैं अब यहां भी भिन्नता है जगत और सर्व शब्द में तो भिन्नता कुछ हो गई नहीं हुई वही तो व्याकरण वाले तो शब्द शास्त्र वाले तो शब्द के आधार पर ही तो भिन्नता करेंगे ना ये शब्द है अपनी बात को कहता है कि ये इसका अर्थ क्या है हम भिन्नता करते हैं तो एक तो ये ईश और, और दूसरा सर्वस्वामी चौथी पंक्ति में सर्वस्वामी हाँ अच्छा तो ईश और स्वामी में तो स्पष्ट भिन्नता है ही हम स्थूल रूप से जो ईश है वो स्वामी है जो स्वामी है वो ईश है ऐसा हम मान लेते हैं इसलिए आपको लग रहा है कि ये दोनों एक ही हैं जबकि ईश शब्द ऐश्वर्य को बताता है उसके पास ये संपन्नता है ये गुण है ये गुण है ये गुण है केवल संपन्नता को बता रहा है और स्वामी शब्द आधिपत्य को बताता है मैं मेरे के संबंध संबंध को बताता है स्वामी शब्द स्व के साथ में जुड़ा हुआ है स्व यानी ये जो धन है और उसका प्रयोग करने का अधिकार उसको ठीक बनाने का अधिकार इसको बताता है यद्यपि ये भी एक ऐश्वर्य है किंतु अर्थ में भिन्नता है भिन्न भिन्न दृष्टि से कहा जा रहा है ठीक है जो स्वामी होते हैं वो ऐश्वर्य से युक्त होते हैं ये ठीक बात है फिर भी दृष्टि तो भेद है ही अर्थ में तो भिन्नता है ही जब हम परमात्मा को केवल ईश कह रहे हैं जगदीश बस वो इन ऐश्वर्यों से युक्त है अब ईश का मतलब आप स्वामी मत ले हुआ जगत ऐश्वर्य वाला है वो सारा जगत जिसका ऐश्वर्य है जिसका ऐश्वर्य सारे जगत में परिलक्षित होता है केवल ऐश्वर्य तक देखेंगे और स्वामी में ऐश्वर्य की बात न देखते हुए उसका आधिपत्य देख रहे हैं प्रयोग कर्तृत्व देख रहे हैं उसकी स्वतंत्रता देख रहे हैं वो इनका प्रयोग कर सकता है ये दूसरों को दे सकता है ये चीजें उसके नियंत्रण में है इस अर्थ को लेंगे तो भिन्नता है ठीक है ऐसे तो शीघ्र समाप्त करना था आपका हो गया स्वामी जी और पहले किसने है

हम भी अभिवादन कर दें उनको वो करते हैं और कई बार निषेध भी किया जाता है ठीक है जो अस्वाभाविक होता है अनावश्यक होता है तो उसको मना किया जाता है दूसरा अलग अलग परंपराएं अलग अलग जगह पे हैं कुछ स्थानों पर यह है कि जब भी मिलेंगे तब अभिवादन करेंगे किसी भी तरह से करें ठीक है वहां वो शिष्टाचार माना जाता है लोक में भी कुछ ना कुछ हम उसकी तरफ चाहे थोड़ा झुकेंगे गर्दन करेंगे मुस्कराएंगे देखेंगे कुछ भी करेंगे ये एक तरह का सम्मान है एक दूसरे के प्रति आते जाते दस बार मिलेंगे तो भी मुस्करा के जाएंगे एक दूसरे के सामने ये विदेशों में प्रचलित है तो उस तरह का सम्मान है अपने यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र में जो साधु संत होते हैं गुरुजन होते हैं आचार्य होते हैं बड़े होते हैं तो उनके लिए वहां परंपरा है कि जब भी मिलेंगे तब उनको अभिवादन करेंगे वहां वो ही स्वाभाविक माना जाता है उन्होंने इस तरह की बात कर ली है कि बार बार अधिक आदर प्रकट हो दुरुपयोग भी होता है इसका और कुछ अनावश्यक भी है पर उन्होंने उस तरह का वहां बना रखा है उस परंपरा को देख करके जो व्यक्ति आया वो अपने यहां भी ऐसा ही करते है अपने यहां सामान्यतः क्या नियम रखते हैं हम कि एक बार प्रातःकाल और एक बार सायकाल शयन के समय अथवा बीच में कभी कक्षा होती है कभी कुछ विशेष समय दिया होता है तो वहां हम अभिवादन करके बैठते हैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपने समय दिया फिर उन्होंने कुछ बताया फिर हम उठते हैं तब अभिवादन करके कि फिर कृतज्ञता आभार प्रकट करते हैं धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे लिए समय दिया इत्यादि तो यहां तक तो ठीक है और जहां जैसी व्यवस्था है उसके आधार पर यदि अधिक हो रहा है तो वो फिर भिन्न अर्थ को देता है ये व्यक्ति अति कर रहा है कुछ विशेष प्रयोजन से भी व्यक्ति ऐसा करता है कई बार व्यक्ति वैसे तो कोई बात भी नहीं करते आ, मिलते नहीं है लेकिन जब कार्य होता है तो बहुत मिलते हैं बहुत अभिवादन करने लगते हैं बहुत स्तुति करने लगते हैं ये एक गलत नीति के तहत कोई करते हैं वो नहीं होना चाहिए और यहाँ कभी अधिक होता है तो रोका ही जाता है मैं तो मना कर देता हूँ बहुत बार कि भाई इतना नहीं ठीक है बस इतना हो गया बार बार नहीं कि हर बार मिल रहे हैं तब करते हैं इसको उपेक्षा नहीं कहा जाता ये तो व्यवहार है और हम उनको कह देते हैं भाई इतना नहीं कीजिए इतना एक इतना पर्याप्त है बस और बहुतों को उसमें भी होता है कि भी दूसरे नमस्ते करते हैं तो पैर छूने में भी उनको बहुत खराब लगता है वो उनको नहीं अनुकूल होता है तो मना भी करते हैं कोई पैर छूता है जैसा कि अपने यहां परंपरा है तो मना करते नहीं पैर मत छुओ बस वैसे ही नमस्ते कर दो और कईयों को वो भी लगता है कि क्यों एक दूसरे को झुके बस हम प्रसन्नता से मिल रहे हैं वो उसको भी अच्छा नहीं मानते तो ठीक है जिस तरह से भी जो सामान्यतः स्वीकार करता है वैसे कर सकते हैं ऐसा बोलिए अतिरिक्त प्रश्न हो रहा है मैं समाप्त करना चाह रहा था जी जी ठीक है आपने उत्तर भी स्वयं दे ही दिया है वैसे उसका तो प्रश्न इनका यह है कि किन्हीं को हम अभिवादन करते हैं तो वो उत्तर नहीं देते हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं उसकी उपेक्षा जैसा करते हैं कि हमने अभिवादन किया और उन्होंने उत्तर नहीं दिया किसी भी तरह बोल करके भी दिया जाता है या हाथ जोड़ करके भी दिया जाता है भले ही मौन है लेकिन सिर झुका के दिया जाता है उनकी तरफ देख करके दिया जाता है आशीर्वाद से उत्तर दिया जाता है बहुत सारे उपाय हैं अलग अलग स्वभाव से और अलग अलग स्थितियों में ये किया जाता है और अपनी अपनी जगह ये सब ठीक माने जा सकते हैं लेकिन आपका प्रश्न जो है कि कुछ व्यक्ति अभिवादन का उत्तर ही नहीं देते पता है कि अभिवादन कर रहा है सामने वाला व्यक्ति तो भी दूसरे से बात कर रहे हैं अथवा बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी दूसरी तरफ मुख फेर रखा है और वो बहुत गलत है इसलिए परमात्मा जो मान्य प्रत है ये हम परमात्मा हमें मान देता है परमात्मा जहां हमारे से मान की हमारे से मान के लिए विधान करता है कि आप मेरी स्तुति करो अपनी प्रशंसा के लिए नहीं हमारे हित के लिए लेकिन वो हमारा मान भी पूरा करता है हमारी हर स्तुति को प्रार्थना को वो सुनता है उपेक्षा नहीं करता है बिल्कुल भी तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो गलत है लौकिक दृष्टि से भी गलत है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत गलत है ये हम दूसरे के साथ आत्मावत व्यवहार नहीं कर रहे हो सकता है कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं हो या हम उसको गलत मानते हो लेकिन एक सामान्य व्यवहार में वो आया है तो एक सामान्य उत्तर इतना तो नमस्ते का उत्तर नमस्ते होना ही चाहिए ठीक है और जो मनुस्मृति में बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति अभिवादन का उत्तर नहीं देता है तो उसको अभिवादन करना छोड़ देना चाहिए ये है कठोर लेकिन विधान तो यही है और उचित विधान है ये वो इस पात्र नहीं है कि वो उसको अभिवादन किया जाए क्योंकि अभिवादन दो के बीच का संबंध है हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरा अपनी अभिभावनाओं को अभिव्यक्त करता है भावनाओं से जुड़ा है केवल बाह्य रूप नहीं है इसका और उसको कोई जब स्वीकार नहीं कर रहा है अनेक बार ऐसा हो गया तो उसको अभिवादन छोड़ दिया जाता है उसमें अपने मन में दुर्भावना ना आए कि उसके प्रति क्रोध आक्रोश है लेकिन एक विधान मानते हुए कि इसको इनको स्वीकार्य नहीं है और शास्त्र इसकी हमें सम्मति देता है तो हम नहीं करेंगे पर समाज में इसका भी बहुत दुष्प्रभाव आता है ऐसे व्यक्ति अभिवादन न करने का बहुत गलत अर्थ लेते हैं और फिर वहां क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है शत्रुता होती है द्वेष हो जाता है क्योंकि जो व्यक्ति इस स्तर पर जी रहा है कि अभिवादन करने वाले का महत्व तो नहीं समझ रहा है वो मान के चल रहा है मैं बहुत बड़ा हूं और ये कर रहा है अभिवादन तो कोई एहसान नहीं कर रहा है कोई उपकार नहीं कर रहा है मेरे पे मैं इसकी कृतज्ञता क्या मानू कर रहा है इसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं या दे रहा हूं या भोजन की व्यवस्था कर रखी है इत्यादि ये कर रहा है तो कर रहा है ये जो भाव गर्व के भाव से युक्त ये चीजें होती हैं तो इस स्तर का व्यक्ति अवश्य प्रतिक्रिया करेगा उसको अगर आप अभिवादन ना करें वो भले ही उत्तर नहीं दे रहा है लेकिन मन में उसको पता है कि कौन अभिवादन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है कौन कैसे कर रहा है ऐसे व्यक्ति अंदर सब जानते हैं उनको अभिवादन नहीं किया जाए तो वो हलचल हो जाएगी उसको कि क्या कारण हो गया और उसका व्यवहार भी बदल सकता है विपरीत भी हो सकता है बहुत सी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं व्यवहार में ये भी देखा जाता है तो अनेक बार ये बड़ा दुखद भी हो सकता है कि हमने शास्त्र का पालन तो किया और वहीं रह रहे हैं उनके यहां रह रहे हैं तो उन स्थितियों में ये उसके विपरीत भी होता है इसके दुष्भयंकर परिणाम है यदि हम इतने समर्थ हैं कि हम उस प्रतिक्रिया होने पर भी सहन कर लेंगे या वो वहां से हटा देंगे तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे तब तो इस दिशा में चला जाए व्यक्ति लेकिन यदि उस व्यक्ति को पता है कि मेरा और कोई आश्रय नहीं है तो अभिवादन करते रहना चाहिए ये मान करके कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं और ये यदि अभिवादन का उत्तर नहीं दे रहे हैं ये इनकी बात है केवल इतनी सी बात को लेकर के अपने आगे तक के अनेक वर्षों का और सबका अव्यवस्था कर लेना ये तो उचित नहीं है और हम कोई अधर्म नहीं कर रहे हैं इसमें अभिवादन किया तो ठीक ही कर रहे हैं उन्होंने जितना उपकार किया उसकी दृष्टि से हम कर रहे हैं लेकिन अनेक बार व्यक्ति छोटी बातों को लेकर के शास्त्र की बात है उसको लेकर के अपने आगे तक के भविष्य को बिगाड़ लेता है गलत बात का समर्थन नहीं हो रहा है ये ध्यान रखना उनके पक्ष में जानते वो भी हैं फिर भी कर रहे हैं पर हमारे को कहीं जाने की स्थिति नहीं है उनके लिए कह रहा हूं मैं समर्थ है तो ठीक है छोड़ दें उस व्यक्ति को दूसरी जगह चला जाए लेकिन कहीं जा नहीं सकता दूसरी जगह जाएंगे वहां भी वही उसी तरह की समस्या दूसरी समस्या कौन स्वीकार करेगा अवस्था हो जाती है वृद्धावस्था आ जाती है साधनों की हीनता रहती है तो वहां अनुकूलता योगक्षेम देखता है व्यक्ति अपनी साधना भी चल रही है इन कुछ उपेक्षाओं को कुछ बातों को तो दुनिया में हर जगह सहन करना होता है तो इस रूप में इसको ले लेना चाहिए और यथावत करते भी रह सकते हैं ठीक है शांति पाठ ओ